गयु गरुण जह बसये भूषुण्डा मति अकुण्ठ हरे भगति अखण्डा सैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब देखि देखिल तड़ाग जन जल पाना बट तर गय हृदय हर साना वृद्ध वृद्ध बेहंग तह आये सुनय राम के चरित सुहाए गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड जी बसते थे उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे कथा करे सोई चाहा तेहि समय गयौ आवत देखि से उबायस सहित समाजा अतियादर खगपति कर के धाम स्वागत पूछे सुआसन दे धाम कर पूजा समेत अनुरागम मधुर बचन तब बोले उकागम मुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहाँ जा पहुँचे पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्ष समाज हर्षित हुआ उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले नाथ कारथ भयमयं तव दर्शन खगराज आय सुदेहु सुकरो अब प्रभु आय हो काज सदा रूप तुम्ह कह मृदु खगेश। देहकयस्तुति सादर निज मुख की महेश हे नाथ हे पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कितार्थ हो गया आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभो आप किस कार्य के लिए आए हैं पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन से कहा आप तो सदा ही कितार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है सुनहुतात जहे कारण आय सो सब भयऊ दरस तव पायऊं देख परम पावन तव आश्रम गयौ मोह संसयनाभ्रम अब कथायति पावनिं सदा सुखदुःख सादरतात सुनावहु मोहि बार बार वो प्रभु तो ही हे तात सुनिए मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे अब हेतात आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से ही सुनाइए हे प्रभो मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ सुनत गरुण के गिरा बिनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयवतासुमन सुमन परमौछा लाग कह रघुपति गुण गुणगाः प्रथम हि अति भवानी रामचरित सर रामचरसर कहसि नारद कर पार कहे मोहयपारसि बहुरी प्रावन अवतार प्रभु अवतार कथा पुन तब तबि सुचरित कहसि लाई गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेमयुक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे हे भवानी पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएँ कही बाल चरित कहे बेबेध बेधे मन मह पर मऊछाह ऋषिया गवन कहे सिपुने श्री रघुबीर विवाह मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया